जहाँ हमको आनंद आवेगा वहाँ हम निरावरण हो जाएंगे हमारे और उसके बीच में कोई पर्दा नहीं रहेगा सारे आवरणों को भंग कर देगा वो आवरण वो वो आनंद सारे आवरणों को भंग कर देगा इसलिए श्रेष्ठ कनिष्ठ की तो बात यही है कि वैराग्य प्रधान जो चित्त है चाहता है कि संसार से हमको वैराग्य हो दुनिया को देख रहा है और उससे छूटना चाहता है और एक चित्त वो है जो दुनिया को देखते ही नहीं है केवल परमात्मा को ही देखता है एकमात्र परमात्मा पर जो दृष्टि जमी है वो भक्ति है और जो जो दुनिया को देखकर उसको छोड़ना चाहता है वो ज्ञान दृष्टि है तो ऐसा है कि प्रेम तो सबके हृदय में है ही है आत्मा प्रेम स्वरूप है आत्मा आनंद स्वरूप है वो भगवान जन्म जन्म की भक्ति हो की कृपा से भक्ति का स्वयं आविर्भाव हो जाए ऐसा भी हो सकता है और भगवान इतने कृपालु हैं कि जो किसी के जीव के जन्म जन्म के कष्ट को देख नहीं पाते हैं दया तो से द्रवित होकर उसको अपने हृदय से लगा लेते हैं तो भक्ति भी ज्ञान जैसे स्वयं प्रकाश है वैसे भक्ति भी स्वयं प्रकाश है स्वयं प्रकाश रूप जनराती नहीं कश्चि चाहिए दिया भाती तो साधना करने से भी भक्ति हो सकती है और भगवान की कृपा से भी भक्ति हो सकती है भक्ति दोनों ही तरह से हो सकती है और तत्व ज्ञान भी दोनों ही तरह से हो सकता है परंतु हृदय की योग्यता तो चाहिए ही चाहिए इस हृदय में ये रस रखा जाए ये ये वस्तु हमारे यहाँ देखते हैं तो बाटी के बर्तन में तो दही जमा लेते हैं और बहुत बढ़िया जमता है लेकिन चांदी के बर्तन में या तांबे के बर्तन में अगर दही जमा है तो बिल्कुल भ्रष्ट हो जाता है वस्तु जिस पात्र में प्रकट होने योग्य होती है उसी पात्र में वो ठीक ठीक प्रकट होती है जिसके हृदय में भगवत रस के प्रति आकर्षण है और भगवान की कृपा है भगवान का अनुग्रह और भक्त की श्रद्धा इन दोनों के समागम का नाम भक्ति है भक्त के हृदय की भगवान के प्रति अनंत श्रद्धा और भगवान का अपने भक्त के प्रति अनंत अनुग्रह इन दोनों का जो समागम है विवाह है वही वस्तुता रसोपलब्धि है भक्ति तो सारा उपाय भगवान के प्रति छोड़ देने पर भक्तों का ये सिद्धांत है कि अक्कल लगा के प्रेम नहीं किया जाता है चतुर आदमी तो प्रेम करेगा तो ठग लेगा बुद्धिमान आदमी प्रेम करेगा तो ठग लेगा इसलिए सरल भाव से कहो भगति पथ कवन प्रयासा जोग न जप तप मकोपवासा सरल स्वभाव न मन कुटिलाई जथा लाभ संतोष सदाई मोर भगत कहाय नरासा उपाय पर विश्वास मत करो भगवान पर विश्वास करो भगवान पर जितना अधिक विश्वास होगा उतने भक्ति का प्राकट्य होगा भक्ति असल में विश्वास से प्रेम होता है और प्रेम से सेवा होती है भक्त श्रद्धा से प्रेम और प्रेम से सेवा प्रेम पराकाष्ठा में जाकर उस सेवा में विलीन हो जाता है जिसमें भक्त और भगवान का भेद नहीं रहता है त्रिभंग पूर्व त्रिभंग पूर्वकम प्रेमैव कार्यम प्रेमैव कार्यम त्रिपुटी का भंग हो जाना चाहिए हम और हमारे भगवान ये दो नहीं है भगवान और भगवान के बीच में कोई पर्दा कोई असंतुलन नहीं है जो हो रहा है सो ठीक है भगवान कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं सो भगवान करा रहे हैं और जो भगवान करा रहे हैं सो ही हम कर रहे हैं भगवान के संकल्प में और भक्त की क्रिया में किसी भी प्रकार का भेद नहीं है तो सरलता क्या होती जी आप अपने प्रति जितने सच्चे हैं भगवान के प्रति उतने सच्चे होने का नाम सरलता है settled by himself. You are Yuruja You Anand Puja. की कथा अनंत है उनका रूप सौंदर्य अनंत है उनके गुण अनंत हैं उनके प्राकट्य का जो अनंत अवसर है अनंत है एक काल और एक भगवान काल तो खंड रूप से अनंत होता है लेकिन भगवान स्वभाव से अनंत होते हैं तो जब जब ये अस्वाभाविक अस्वाभाविक अनंतता स्वाभाविक अनंतता के साथ एक कर दी जाती है ये काल भगवान में आज रामनवमी है जन्माष्टमी ये शालग्राम साक्षात अनंत भगवान ये स्थान नैमिषारण्य वृंदावन काशी ये साक्षात भगवान भगवत रूपता तो स्वाभाविक है और भक्त का भाव जब उसमें भगवानमय हो जाता है तब वहाँ भगवान की अभिव्यक्ति हो जाती है भर तो भगवान की गौर ही रही है आज इस समय कहीं न कहीं बसंत ऋतु है चैत्र मास है शुक्ल पक्ष है नौमी तिथि है बारह बजे हैं रामावतार हो रहा है साधारण रूप से बात समझ में आई तो है क्योंकि कोट कोट ब्रह्मांड में कोटि कोटि ब्रह्मांड में कहा उत्तर है कहा पूर्व है है पश्चिम कहा ऊपर है कहाँ नीचे कहाँ अयोध्या है और कहाँ काशी निश्चय करना संभव नहीं है सर्वत्र सर्व इसलिए सब जगह अयोध्या है सब जगह काशी है सब जगह वृंदावन है जहाँ हमारा मन वृंदावन काशी अयोध्या की भावना से युक्त हो जाए वहाँ भगवान आ जाएंगे और जहाँ हमारा मन विमुख हो जाएगा भगवान से वहाँ भगवान का दर्शन हो जाएगा दर्शन नहीं है देखो इसी धरती पर इस समय who's gone through this big deal? Only Shivaji. To see somebody, she must be. So, पूरे ब्रह्मांड में कितनी जगह इस समय धरती पर कौन से बजते होंगे कई जगह सूर्यास्त होता होगा फिर कई जगह ग्रहण होता है भगवान की अनंतता की दृष्टि से विचार करो देखो तो परम प्रेमास्पद प्रभु परिपूर्ण है सर्वत्र सूक्ष्मता में यही अयोध्या है कहीं और यही काशी है यही गंगा है यही समुद्र है और देखो बुद्धिमान आदमी तो जानते हैं है कि नहीं कहीं भी किसी को भी कभी भी उत्तर काम मिल सकता है सूरज की सीमा के आगे जाने के बाद तो उत्तर रहेगा वो क्या आगे क्या होगा वही तो पूर्ण होगा सूरज की सीमा से किशोर आगे बढ़ते हैं जिस शोर आगे बढ़ते हो वो भी तो देश ही है कहीं भी सूर्य की सीमा से आगे बढ़े मुक्ति नहीं है भूत भविष्य की सीमा नहीं है आकाश की सीमा है तो इनकी सीमा है कहा अवस्था में जब स्वप्न सुसुप्ति अवस्था में सुसुप्ति अवस्था में देश काल वस्तु की सीमा मिल जाती है उस सुसुप्ति में जो रहता है वो परमात्मा का स्वरूप है और उस समय कौन रहता है उस समय अपना इसलिए उत्तर का देश या दक्षिण का देश पूरब का पश्चिम का ऊपर का नीचे का शक्ति है तब परमात्मा के सिवाय और क्या हुआ अध्यारोप जितने होते हैं तो यौक्तिक होते संसार को देख कर ही परमात्मा ने उनका अध्यारोप किए जाता है शास्त्र ने जैसा संसार को देखा वैसा परमात्मा ने संसार को भगवान में देखना ये भक्ति है संसार को देखना है ज्ञान संसार में ही भगवान को जोड़ लेना कोटि कोटि ब्रह्मा कोटि कोटि ब्रह्मा विष्णु महेश कोटि कोटि प्रकृति विकृति व्याकृति घर से जब हम देखते हैं कि ये दुनिया कहाँ है तब मालूम पड़ता है कि ये दुनिया परमात्मा में है और जब परमात्मा रूप से देखते हैं कि ये दुनिया कहाँ है उसी तो तरह न चमत्कार होता सर्वाणी सर्वभूतानि न चाहते न भूतानि जब दुनिया में खड़ा होके ईश्वर को ढूंढते हो तो ईश्वर अलग मालूम पड़ता है और जब ईश्वर से एक होकर दुनिया को देखते हैं तो ईश्वर तुमसे तो दुनिया तुमसे एक मालूम करती सारी उपासना उपासना शास्त्र का रहस्य ही ये है कि वो संसार को परमात्मा में देखता है प्रोग्राम देखे जन्माष्टमी देखे नैमिषारण्य देखे वृंदावन देखे ये उपासना शास्त्र का रहस्य सारा ज्ञान शास्त्र जो है उसका राष्ट्रीय परमात्मा राधा राधे राधे न समर्थकान भूतान यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मई पश्यति सर्वभूतेषु चात्मानम् सर्वभूतानि चाप्तम् सर्वभूतस्थितम जो मां भजत के तत्व में स्थित इन तीनों श्लोकों को मिला दो एक वाक्यता एक वाक्यता हो जाएगी जो माम पश्यति सर्वत्र ये तत्पदार्थ हो गया सर्वभूतेषु चात्मानम अहम पदार्थ हो गया अहम पदार्थ हो गया और भजत भजते कत्वमास्थित जीवासी पदार्थ हो गया इसके पदार्थ हो गया विचार होगा ये यौक्तिक विचार नहीं है ये परमात्मा का वर्णन कैसे किया है सूफी वाक्य है और ब्रह्मसूत्र वाक्यार्थ है और बाकी सब ग्रंथ जो है वो तो वाक्यार्थ के विचार है प्रकट होता नहीं है न हुआ और न कभी होगा जो है वो हुआ नहीं है नहीं होगा नहीं उसका तो तत्संबंधी जो अज्ञान है वो अज्ञान दूर होगा प्राकट्य नहीं होगा उसकी स्वयं प्रकाशिता का बोध होगा माने स्वयं प्रकाशिता संबंधी अज्ञान का, दूरीकरण होगा प्राकट्य होगा नहीं केवल तत्संबंधी प्राकट्य की अज्ञान का दूर होगा इसी से तो कहते हैं कि घोड़े के रिकॉर्ड जो पाँव और कुछ हो तो गया ये भी जैसे आपके विचारों में जितनी दिव्यता है लोग भी विचार करते हैं उतनी दिव्यता क्यों नहीं होती क्या था मैं मैं तो अपने जिज्ञासा की दूसरा हे राम जी अनुत्तर ही इसका उत्तर अनिर्वचनीयता ही इसका उत्तर कहा स्वयं प्रकाश नहीं सा पशु पक्षी कौन सा वृक्ष कौन सा लता स्वयं प्रकाशन यदि विचार से युक्ति से देखो एक पत्ता है तो पत्ता कहाँ से आया पौधे में से पौधा कहाँ से आया बीज में से बीज कहाँ से आया संस्कार विशिष्ट पंचभूत में से पंचभूत कहाँ से आया पंच इंद्रियों के संस्कार से आया पंच इंद्रियों के संस्कार से कहा से आए जब विचार करोगे तो देखोगे तुम्हारी स्वयं प्रकाश आत्मा ही सर्वरूप में प्रकट हो रही है तो ये तो वेदांत का विचार हुआ ना ये दूसरी चीज है सर्व सर्वगत सर्व उदालय जब सर्व भी कहते हो और सर्वगत भी कहते हो राम अखंड ज्ञान अखंड एक सीतावत ज्ञान को अखंड भी कहते हो तो खंडता का प्रश्न कहाँ उठता है राम ने देखाया दिख रहा है पौधा दिख रहा है पेड़ दिख रहा है वृक्ष लता राम ने देख पाया सब राम ही दिख रहे हैं एक तो बोधवान को दिखता है जैसे मारिच को भी तो दिखता है मारिच कहता है कि मैं तो जिधर देखता हूँ वही दोनों तो सुधा ही हम होगा तो भय बोले राग रत्न रमणी रथाधिकम जप रामायण जब राजा रत्न रमणी रथ इन शब्दों का श्रवण करता है राम राम की स्फूर्ति होने लगे तो वो भय निमित्त सर्वत्र जीवनमयी दृष्टि कैसे एक तो भाव भगवानमयी दृष्टि को महाराज ऐसी दोहराई जाए ऐसी दो जाए विचार हो तो वेदांत की जो दृष्टि है तो असल में वस्तु है क्या ये विचार करने की है और भक्ति की जो दृष्टि है वो तो भावमयी है बारम्बार बारम्बार बारम्बार दोहराते दोहराते जब शब्द दूसरा नहीं रहेगा विवेक विज्ञान शब्द दूसरा नहीं रहेगा तो स्पर्श भी दूसरा नहीं रहेगा स्पर्श दूसरा नहीं रहेगा तो रूप भी दूसरा नहीं रहेगा दूसरा नहीं रहेगा तो रस भी दूसरा नहीं रहेगा रस दूसरा नहीं रहेगा तो गंध भी दूसरा नहीं रहेगा और गंध शब्द स्पर्श रूप रस गंध दूसरे नहीं रहेगा तो सब भगवान में असल में भगवान में बनाया नहीं जाता है ये तो भगवान मय है दर्शन होता है भगवान महता का निर्माण नहीं होता है ये प्रमाण विभाग अलग है वेदांतियों का प्रमाण विभाग है और उपासकों का निर्माण विभाग है ये भाव को दोहरा कर भगवान बना लेते हैं भगवान स्वयं प्रकाश रूप से प्रकट होकर दिखा देते हैं कि मैं ही मैं हूँ सारे पत्र लिए हुए हम लोग बोलने लगे किसी नाराज हो रहे हैं ये लोग सुनी बात कर रहे हमको पसंद नहीं कर रहे हैं औरों को भी अवसर मिल जाए ऐसे हमको बोलने में बोलने में कोई कोई बात हो सकती मानदंड का निर्वाह उनकी अनुयायी नहीं कर पाते इस विवशता के कारण ऐसा होता है उस विवशता का निवारण कैसे किया जाए ऐसा है कि अनुयायियों की ओर न देखा जाए यदि अनुयायियों की ओर देखोगे तो उनके मानदंड का दर्शन कभी नहीं होगा या तो भगवान को देखो तो भक्ति है या तो अपने को देखो तो वेदांत है और यदि अनुयायियों को देखोगे तो स्वयं अनेकता को देखने लगोगे और स्वयं अनेकता को देखने लगोगे तो मानदंड तो अपने आप ही टुकड़े टुकड़े हो गए टूट गए कौन क्या है कैसे है क्या करता है इससे कोई मतलब नहीं है गुण ये अवैध देखिए देखिए सो अभिवेक को देखने की कोई आवश्यकता नहीं यहाँ तक कि किसी दूसरे भक्त को भी देखने की आवश्यकता नहीं शुरू शुरू की बात दूसरी तो है आप दूसरे के अंदर भगवान क्यों देखते हैं अपने में ही भगवान को क्यों नहीं देखते पूर्ण भगवान को आपके हृदय में आपके स्वरूप के रूप में विराजमान तो कोई बात हो तो बैठ गए श्री उड़िया बाबा जी महाराज के अवरुद्ध जीवन के बारे में

saat bulunması. एक बालक ने उन्हें आमंत्रित किया कि आप किसी दिन हमारे यहाँ पधारे भिक्षा करें पहुंच गए दस ग्यारह बजे बालक तो नहीं था उसके पिता और समाजी और बड़ी बड़ी मूछे और बैठे और बाबा भी देख रहे हैं तगड़े वो मुस्टिंदा कहाँ से आए अभी उनके तो भिखारी हैं भिक्षा मांगने के लिए आए ठीक क्यों मानता है काम क्यों नहीं करता काम कहा मिलता है काम मिले तो करे बैठ जा छुट्टी काट तो लेके गलास बैठ गए ज्वर का काटा काटने लगे इसी बीच में उसका बालक आ गया अरे ये सब दिखते हैं सब बराबर है उनके लिए सब बराबर ही हो गए कोई टीका है कोई उपदेश देते एक नहीं दस बार कैसे सुना दे सबका दूसरे के ठहरे हुए थे तो दिल्ली में कहीं तो तो एक भक्त ने कहा महाराज हमारे यहाँ पांच छह मील था तो पैदल ही चलते थे पांच दिन भोजन करने जाएंगे हाँ, तो सुबह से चले गए तो रहता था किराए के मकान में मालिक मकान ने कहा कि हम भीतर साधु को घुसने नहीं रहे थोड़ी देर तक लोगों ने सरोजी विनती की महाराज पधारे हैं आने जगह नहीं जाने दिया लौटे फिर आकर लोगों ने चेहरा पकड़ लिया सदैव मारा चलिए अब छह बार आठ बार दो तीन परलाम गए और दो तीन परलाम लौट के आए अंत में उन्होंने कहा कि बाबा की यही बेहतर मैं नाम को तो खाता ही यही सड़क पर बैठ के खा लेता तेरे घर में जाके खाऊ उसकी खेल तो वो लिया है इतनी <laughs> तो बहुत भगत था तो तो साधारण भगत नहीं था तभी तो बैठ <laughs> सन्मुख हैं उनके भक्त हैं उनके लिए सब भगवान की लीला है और जो भगवान से विमुख है उनके लिए सब माया है जो भगवान के सिवाय दूसरी कोई चीज देख कर मान कर उसमें फंस गए उनके लिए तो सब माया ही माया इसलिए भगवान का भजन जिनसे होता है उनके लिए सब लीला है और जो भगवान के भजन से विमुख उनके लिए सब माया सत्संग में सदुपदेश द्वारा बुराई से बचना और सत्पथ पर चलने की प्रेरणा के साथ सूर्य घर ग्रहण करना चाहिए कि जो हो जाए उसको तो भगवान की लीला देख करके अपने हृदय को क्षुप्त मत करो नहीं है उसके बारे में सावधान रहो ऐसा कोई काम मत करो जो भगवान की आज्ञा के विपरीत है श्रुति और स्मृति ये भगवान की आज्ञा है की आज्ञा के अनुसार करते हैं वे ठीक रास्ते पर चल रहे हैं और जो भगवान की आज्ञा के विरुद्ध चल रहे हैं वो गलत रास्ता पर चल रहे हैं की और हो रहा है ये भक्त की दृष्टि और मनुष्य को बुरा काम नहीं करना चाहिए और तो भगवान से विमुख है बुराई है और भगवान के शब्दों सुना यही सबसे बड़ी अच्छा है समय में प्रमण है या मन गरज देखो वैसे तो रामचरित कोट या पारा रामचरित्र सैकड़ों करोड़ और कल्प कल्प के भेद से लिखा हुआ है